दूसरा प्रश्न कल आपने कहा कि मोक्ष बुद्धत्व की आकांक्षा भी वासना का ही एक रूप है और फिर कहा जब तक बुद्धत्व प्राप्त न हो जाए तब तक चैन से मत बैठना इस विरोधाभास को समझाएं मोक्ष की बुद्धत्व की आकांक्षा भी बुद्धत्व में बाधा है फिर मैंने तुमसे कहा जब तक मोक्ष उपलब्ध न हो जाए तब तक तृप्त होके मत बैठ जाना तब तक अभीपसा करना तब तक आकांक्षा करना स्वभावता विरोधाभास दिखाई पड़ता है लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जब तक आकांक्षा रहितता उपलब्ध न हो जाए तब तक आकांक्षा रहितता की आकांक्षा करते रहना यह विरोधाभास दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं दो तलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तुम जहां हो उसको और तुम जहां होने चाहिए उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए विरोधाभास जैसे कोई बच्चा पैदा हो अभी जन्मा है और हमें उसे मौत की खबर देनी हो यद्यपि जो जन्म गया वो मरने लगा लेकिन बच्चे को मृत्यु की बात समझानी बड़ी कठिन हो जाएगी मृत्यु की बात विरोधाभासी मालूम पड़ेगी अभी तो जन्म ही हुआ है और ये मौत की क्या बात है और जन्म के साथ मौत को कैसे जोड़ो बच्चे को विरोधाभासी लगेगी लेकिन विरोधाभासी है नहीं क्योंकि जन्म के साथ ही मौत की यात्रा शुरू हो गई जो जन्मा वो मरने लगा जितने जल्दी मौत समझाई जा सके उतना ही अच्छा है ताकि जन्म व्यर्थ ना चला जाए अगर जन्म के साथ ही मौत की समझ आ जाए तो जन्म और मृत्यु के बीच में बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है तो आदमी जाग जाता है जन्म और मृत्यु दोनों से जिस जन्म की मृत्यु होनी है उन दोनों के बीच जीवन तो नहीं हो सकता आभास होगा तो जब जन्म की मृत्यु ही हो जानी है तो इस जीवन का क्या भरोसा तो फिर हम किसी और जीवन की खोज करें किसी और जीवन की जहां न जन्म हो न मृत्यु समझे इस प्रश्न को अब यदि मैं तुमसे कहूं आकांक्षा ना करो तो तुम यात्रा ही शुरू ना करोगे जन्म ही ना होगा अगर मैं तुमसे ये ना कहूं कि आकांक्षा भी छूट जानी चाहिए तो तुम कभी पहुंचोगे ना मोक्ष की आकांक्षा मोक्ष की यात्रा का पहला कदम है और मोक्ष की आकांक्षा का त्याग मोक्ष की यात्रा का अंतिम कदम है दोनों मुझे तुमसे कहने होंगे दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक है जो कहते हैं जब आकांक्षा से बाधा ही पड़ती है तो क्या मोक्ष की आकांक्षा करना फिर हम जैसे हैं वैसे ही भले है। इससे ये मत समझ लेना कि उन्होंने संसार की आकांक्षाएं छोड़ दी उन्होंने सिर्फ मोक्ष की आकांक्षा ना की उन्होंने अपने को धोखा दे लिया संसार की आकांक्षाएं तो वे किए ही चले जाएंगे क्योंकि संसार की आकांक्षाएं तो तभी छूटती हैं जब कोई मोक्ष की आकांक्षा करता है जब कोई मोक्ष की आकांक्षा पर सब दांव लगाता है पूरा दिल दांव पर लगाता है तब संसार की आकांक्षाएं छूटती तब संसार की आकांक्षाओं में जो ऊर्जा संलग्न थी वो मुक्त होती मोक्ष की तरफ लगती लेकिन जो मोक्ष की तरफ ही आकांक्षा किए चला जाता है वो भी भटक जाता है क्योंकि अंततः वह आकांक्षा भी बाधा बन जाएगी एक दिन उसे भी छोड़ना है ऐसा समझो रात हम दिया जलाते हैं दिए की बाती और तेल दिया जलना शुरू होता है तो दिए की बाती पहले तो तेल को जलाती फिर जब तेल जल जाता है तो दिए की बाती अपने को जला लेती सुबह न तेल बचता है न बाती बचती तब समझो कि सुबह हुई फिर बोर हुई तो पहले तो संसार की आकांक्षाओं का तुम तेल की तरह उपयोग करो और मोक्ष की आकांक्षा का बाती की तरह तो संसार की सारी आकांक्षाओं को जला दो मोक्ष की बाती को जलाने में तेल का उपयोग कर लो ईंधन का उपयोग कर लो सारी आकांक्षाएं इकट्ठी कर लो संसार की और मोक्ष की एक आकांक्षा पे समर्पित कर दो झोंक दो सब मगर ध्यान रखना जिस दिन सब तेल चुक जाएगा उस दिन ये बातें भी जल जानी चाहिए नहीं तो सुबह ना होगी ये बाती कहीं बाधा ना बन जाए तो एक तो सांसारिक लोग हैं जो कभी मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं करते फिर दूसरे मंदिरों मस्जिदों में बैठे हुए धार्मिक लोग हैं जिन्होंने संसार की आकांक्षा छोड़ दी और परमात्मा की आकांक्षा पकड़ ली अब उस आकांक्षा को नहीं छोड़ पा रहे ऐसा समझो कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सीढ़ियों पर पैर ही नहीं रखते ऊपर जाने की यात्रा ही शुरू नहीं होती और कुछ ऐसे हैं जो सीढ़ियों को पकड़ के बैठ गए सीढ़ियां नहीं छोड़ते जो सीढ़ियों के नीचे रह गया वो भी ऊपर न पहुंच पाया और जो सीढ़ियों पर रह गया वो भी ऊपर न पहुंच पाया मैं तुमसे कहता हूं सीढ़ियां पकड़ो भी छोड़ो भी मैंने सुना है एक तीर्थ यात्रियों की ट्रेन हरिद्वार जा रही थी अमृतसर पे गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी को लोग जबरदस्ती घसीट के गाड़ी में रखना चाह रहे थे लेकिन वो कह रहा था कि भाई इससे उतरना तो नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा उतरना तो पड़ेगा जब हरिद्वार पहुंच जाएगी तो उतरना पड़ेगा तो उस आदमी ने कहा वो बड़ा तार्किक आदमी था उसने कहा जब उतरना ही है तो चढ़ना क्या ये तो विरोधाभासी है चढ़ो भी फिर उतरो भी लेना देना क्या है हम चढ़ते ही नहीं गाड़ी छूटने के करीब हो गई है सीटी बजने लगी और भागदौड़ मच रही आखिर उनके साथियों ने जो उनके यात्री दल के साथी थे उन्होंने उनको पकड़ा वो चिल्लाते ही जा रहा है कि जब उतरना है तो चढ़ना क्या मगर उन्होंने कहा इसकी सुने समझाने का समय भी नहीं उसको चढ़ा दिया फिर वही झंझट हरिद्वार के स्टेशन पर मची वो कहे कि उतरेंगे नहीं क्योंकि जब चढ़ ही गए तो चढ़ गए अब उतर नहीं सकते वो आदमी तार्किक था वो ये कह रहा है कि विरोधाभासी काम मैं नहीं कर सकता हूं वो किसी विश्वविद्यालय में तर्क का प्रोफेसर होगा जब मैं तुमसे कहता हूं संसार की आकांक्षा छोड़ो अमृतसर की स्टेशन पर फिर तुमसे कहता हूं अब जिस ट्रेन में चढ़ गए वो भी छोड़ो हरिद्वार पर परमात्मा का घर आ गया हरिद्वार आ गया उसका द्वार आ गया अब ये ट्रेन छोड़ो तुम्हें उस आदमी पे हंसी आती है लेकिन अगर तुम अपने भीतर खोजोगे तुम उसी आदमी को छिपा हुआ पाओगे लूटे मजे उसी ने तेरे इंतजार के जो हद इंतजार से आगे निकल गए विरोधाभास है लूटे उसी ने मजे तेरे इंतजार के जो हद इंतजार के आगे निकल गया इंतजार का मजा ही तब है जब इंतजार भी न रह जाए याद तभी पूरी आती है जब याद भी नहीं आती इसे थोड़ा कठिन होगा समझना क्योंकि जब तक याद आती है उसका मतलब अभी याद पूरी आई नहीं बीच बीच में भूल भूल जाती होगी तभी तो याद आती है जिसकी याद पूरी आ गई उसकी फिर याद आने की जगह कहां रही फिर भूलेंगे कहां याद कैसे आएगी याद तभी तक आती जब भूलना जारी रहता है जब भूलना ही मिट गया तो याद कैसी भूलना मिट जाने के साथ याद भी खो जाती हद इंतजार अब सीमा पार हो गई लेकिन तभी याद का मजा है जब याद भी नहीं आती अब एक ही हो गए उससे अब याद करने के लिए भी फासला और दूरी न रही किसकी याद करे और कौन करे किसको पुकारे और कौन पुकारे जिसे चाह था जिसकी चाहत थी वो जो प्रेमी था और जो प्रेसी थी वो दोनों एक हो गए अपनी ही कोई कैसे याद करे लूटे मजे उसी ने तेरे इंतजार के जो हद इंतजार के आगे निकल गया और धर्म की सारी भाषा विरोधाभासी है होगी ही क्योंकि धर्म यात्रा का प्रारंभ भी है और अंत भी वो जन्म भी है और मृत्यु भी और वो दोनों के पार भी है इसलिए जल्दी विरोधाभासों में मत उलझ जाना और उनको हल करने की कोशिश मत करना समझने की कोशिश करना तब तुम पाओगे दोनों की जरूरत है जो सीढ़ी चढ़ाती है वही रोक भी लेती है अगर तुमने बहुत विरोधाभास देखे तो तुम मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि तुम एक तो कर लोगे फिर दूसरा करने में अटकोगे तुमने अगर ये कहा तुमने अगर ये सुन लिया कि परमात्मा याद करने से मिलता है और तुम याद ही करते रहे और तुम कभी हद इंतजार के आगे ना गए तो कभी परमात्मा ना मिलेगा राम राम जपते रहोगे तोता रड़नत रहेगी कंठ में रहेगा हृदय तक न जाएगा क्योंकि जो हृदय में चला गया उसकी कहीं याद करनी पड़ती याद होती रहती करनी नहीं पड़ती होती रहती कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो याद के बीच भी खाली जगह कहां सातत्य बना रहता तब हद इंसार और ऐसी घड़ी जब घटती है तो ऐसा नहीं है कि जब तुम विरोधाभास की सीमा के पार निकलते हो और जब तुम पैराडॉक्स और विरोधाभास का अतिक्रमण करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम ही परम आनंद को उपलब्ध होते हो तुम्हारे साथ सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है क्योंकि तुम्हारे साथ सारा अस्तित्व भी अतिक्रमण करता है एक सीमा और पार हुई जब अपने नफ्स पर इंसान फतेह पाता है जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम जब सारी प्रकृति गीत गाती है जब सारा अस्तित्व तुम्हारे उत्सव में सम्मिलित हो जाता है क्योंकि तुम अलग थलग नहीं हो तुमने अस्तित्व ने कुछ दांव पर लगाया है तुम अस्तित्व के दांव हो पासे हो परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर बड़ा दांव लगाया है और बड़ी आशा रखी जिस दिन तुम उपलब्ध होते हो तुम ही नहीं नाचते परमात्मा भी नाचता है तुम ही अकेले नाचे तो क्या नाच परमात्मा भी खुश होता है सारा अस्तित्व खुश होता है एक फतेह और मिली एक विजय यात्रा का चरण और पूरा हुआ जब अपने नफ्स पर इंसान फतेह पाता है जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम वो बड़ा चुप है गीत इसलिए किसी को क्या मालूम वो बड़ा मौन है वो उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिन्हें अदृश्य दिखाई पड़ने लगा वो उन्हीं को सुनाई पड़ता है जो सन्नाटे को भी सुन लेते वो उन्हीं को स्पर्श हो पाता है जो अरूप का भी स्पर्श कर लेते निराकार से जिनकी चर्चा होने लगी जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम तीसरा प्रश्न आकांक्षा मिटकर अभीपसा बन जाती है अभीपसा की समाप्ति पर क्या कुछ बचता है स्पष्ट करें आकांक्षा यानी संसार की आकांक्षाएं आकांक्षा यानी आकांक्षाएं एक नहीं अनेक संसार अर्थात अनेक जब आकांक्षा मिटकर अभीपसा बनती अभीपसा यानी आकांक्षा आकांक्षाएं नहीं एक की आकांक्षा का नाम अभीपसा अनेक की अभीपसा का नाम आकांक्षा जब सारी आकांक्षाओं की किरणें इकट्ठी हो जाती और एक सत्य पर परमात्मा पर या मोक्ष पर या स्वयं पर निर्वाण पर कैवल्य पर केंद्रित हो जाती तो अभीपसा आकांक्षा और आकांक्षाओं का जाल जब संग्रीभूत हो जाता है तो अभीपसा पैदा होती किरणें जब इकट्ठी हो जाती तो आग पैदा होती किरणें अनेक आग एक यहां तक तो समझ में बात आ जाती है कि आदमी धन को चाहता है पद को चाहता है पत्नी को चाहता है बेटे को चाहता है भाई को चाहता है जीवन चाहता है लंबी उम्र चाहता है ये सब चाहत ये सब चाहते इकट्ठी हो जाती और आदमी सिर्फ परमात्मा को चाहता है यहां तक भी समझ में आ जाता है क्योंकि बहुत आकांक्षाएं जिसने की हैं वो इसकी भी कल्पना तो कम से कम कर ही सकता है कि सभी आकांक्षाएं इकट्ठी हो गई सभी छोटे नदी नाले गिर गए एक ही गंगा में और गंगा बहने लगी सागर की तरह लेकिन जब आकांक्षा के बाद अभीपसा भी खो जाती तब क्या बचता है नदी नाले खो जाते हैं गंगा में फिर जब गंगा खो जाती है सागर में तो क्या बचता है सागर बचता है गंगा नहीं बचती अब इसे तुम समझो पहले तुम्हारी आकांक्षाएं खो जाएंगी तुम बचोगे फिर तुम भी खो जाओगे परमात्मा बचेगा जब तक तुम आकांक्षाओं में भटके हुए हो तब तक तुम तीन तेरा हो टुकड़े टुकड़े हो जब तुम्हारी सारी आकांक्षाएं अभिप्सा बन जाएंगी तुम एक हो जाओगे तुम योग को उपलब्ध हो जाओगे योग यानी जुड़ जाओगे सांसारिक आदमी खंड खंड है एक भीड़ है एक मजमा है धार्मिक आदमी भीड़ नहीं एक एकांत है धार्मिक आदमी इकट्ठा है योग को उपलब्ध हुआ है सारी आकांक्षाएं सिकोड़नी उसने लेकिन अभी है अभी होना भर मात्र बाधा बची अभी तुम हो अभीपसा में और परमात्मा है यद्यपि तुम एक हो गए हो लेकिन परमात्मा अभी दूसरा है पराया है इसे थोड़ा समझो सांसारिक आदमी भीड़ है अनेक है धार्मिक आदमी एक हो गया इकट्ठा हो गया इंटीग्रेटेड योगस्थ लेकिन अभी परमात्मा बाकी है तो द्वैत बचा सांसारिक आदमी अनेकत्व में जीता है धार्मिक आदमी द्वैत में भक्त बचा भगवान बचा खोजी बचा सत्य बचा सागर बचा गंगा बची अब भक्त को अपने को भी डुबा देना ताकि भगवान ही बचे ताकि सागर ही बचे गंगा को अपने को भी खोना है अनेक से एक फिर एक से शून्य तब कौन बचेगा तब सागर बचता है जो सदा से था तुम नहीं थे तब भी था वही बचेगा जहां से तुम आए थे वहीं तुम लौट जाओगे जो तुम्हारे होने के पहले था वही तुम्हारे बाद होने के बचेगा मरने के बाद आए हैं ए राहबर जहां मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम वर्तुल पूरा हो जाता है जन्म के पहले तुम जहां थे मरने के बाद वहीं पहुंच जाते हो थोड़ा सोचो गंगा सागर में गिरती है गंगा सागर से ही आई थी सूरज की किरणों पर चढ़ा था सागर का जल सीढ़ियां बनाई थी सूरज की किरणों की फिर बादल घनीभूत हुए थे आकाश में फिर बादल बरसे थे हिमालय पर बरसे थे मैदानों में हजारों नदी नालों में बहे थे गंगा की तरफ गंगोत्री से बही थी गंगा मेघ से आई थी मेघ सागर से आए थे फिर चली वापस फिर सागर में खो जाएगी मरने के बाद आए हैं ए राह पर जहां मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम वही बचेगा जो तुम्हारे होने के पहले था उसे सत्य कहो तुम एक लहर हो सागर तुम्हारे पहले भी था लहर खो जाएगी सो जाएगी सागर फिर भी होगा और ध्यान रखना सागर बिना लहरों के हो सकता है लहर बिना सागर के नहीं हो सकती कभी सागर में लहरें होती हैं कभी नहीं भी होती जब लहरें होती हैं उसको हम सृष्टि कहते हैं जब लहरें नहीं होती उसको हम प्रलय कहते हैं अगर सारी लहरों को सोचें तो सृष्टि और प्रलय अगर एक एक लहर का हिसाब करें तो जन्म और मृत्यु जब लहर नहीं होती तब मृत्यु जब लहर होती है तो जन लेकिन जब लहर मिट जाती है तब क्या सच में ही मिट जाती है यही सवाल है गहरा लहर सच में मिट जाती है आकार मिटता होगा जो लहर में था जो लहर में वस्तुता था वो तो कैसे मिटेगा जो था वो तो नहीं मिटता वो तो सागर में फिर भी होता है बड़ा होकर होता है विराट होकर होता है तुम रहोगे तुम जैसे नहीं तुम रहोगे बूंद जैसे नहीं तुम रहोगे सीमित नहीं पता ठिकाना न रहेगा नाम रूप न रहेगा लेकिन जो भी तुम्हारे भीतर घनीभूत है इस क्षण वो बचेगा विराट होकर बचेगा तुम मिटोगे लेकिन मिटना मौत नहीं है तुम मिटोगे मिटना ही होना है आखिरी प्रश्न पिछले एक प्रश्नोत्तर में आपने समर्पण और भक्ति में भीतर होश बाहर बेहोशी कही और ध्यानी और ज्ञानी को भीतर से बेहोशी और बाहर से होश कहा यह ध्यानी को किस तरह की भीतर की बेहोशी होती है और बाहर फिर वह किस चीज का होश रखता है किस तरह से होश रखता है जबकि भीतर बेहोशी रहती क्या मेरे सुनने या समझने में कहीं गलती हो रही है कृपया फिर से ठीक से समझा के कहें नहीं सुनने में कोई गलती नहीं हुई समझने में गलती हो रही क्योंकि समझ विरोधाभास को नहीं समझ पाती सुन तो लोगे कितनी ही विरोधाभासी बात कहूं सुन तो लोगे और ये भी समझ लोगे कि विरोधाभासी है और ये भी समझ लोगे कि सुन लिया लेकिन फिर भी समझ ना पाओगे क्योंकि जिसको तुम समझ कहते हो वो विरोधाभास को समझ ही नहीं सकती इसलिए तो विरोधाभास कहती है मैं फिर से दोहरा देता हूं बात बड़ी सीधी है जटिल मालूम होती है क्योंकि बुद्धि सीधी सीधी बात को नहीं पकड़ पाती एक तो है भक्त प्रेमी वो नाचता है तुम उसकी बेहोशी को जब मैं कहता हूं बेहोशी तो मेरा मतलब है उसकी मस्ती तुम उसके जाम को छलकते बाहर से भी देख लेते हो मदिरा बही जा रही मीरा के नाच में चैतन्य के भजन में कुछ भीतर जाके खोजना ना होगा उसकी मस्ती बाहर है मौजे दरिया लहरों में फूलों में अंधे को भी समझ आ जाएगी बहरे को भी सुनाई पड़ जाएगी नाचती हुई है गीत गाती हुई है अभिव्यक्त है ये जो मस्ती है ये मस्ती तभी संभव है जब भीतर होश हो नहीं तो ये मस्ती पागलपन हो जाएगी पागल और भक्त में फर्क क्या है यही पागल भी कभी नाचता है मुस्कुराता है गीत गाता है लेकिन तुम पहचान लोगे उसकी आंखों में जरा झांक के देखना उसमें बेहोशी तो है लेकिन भीतर होश का दिया नहीं भक्त बेहोश भी है और होश का दिया भी संभाले नाचता भी है लेकिन दिए की लौनी कपती भीतर बाहर नाच चलता है भीतर सब ठहरा है अकम्प तभी तो पागल और परमात्मा के दीवाने का फर्क है तो तुम्हें कभी कभी परमात्मा का दीवाना भी पागल लगेगा क्योंकि पागल और परमात्मा के दीवाने में बाहर तो एक ही जैसी घटना घटती है और कभी कभी पागल भी तुम्हें परमात्मा का दीवाना लगेगा लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि तुम जरा भीतर न गए बाहर से ही बाहर लौट आए बाहर बाहर देख के लौट आए जरा भीतर उतरो जरा दो चार सीढ़ियां भीतर जाओ जरा पागल के नाच में और दीवाने परमात्मा की मस्ती के नाच में जरा गौर करो स्वाद भिन्न है रंग ढंग बड़ा भिन्न है अलग अलग अंदाज है लेकिन थोड़ा गौर से देखोगे तो ऐसे ही राह से चलते हुए देख के गुजर गए तो भ्रांति हो सकती है ऊपर से दोनों एक जैसे लगते हैं पागल सिर्फ पागल है बेहोश है भक्त सिर्फ बेहोश नहीं है बेहोश भी है और कुछ होश भी है बेहोशी के भीतर होश का दिया जल रहा है यही विरोधाभास समझ में नहीं आता फिर एक और विरोधाभास तो चीजें और जटिल हो जाती हैं ये तो भक्त हुआ फिर ध्यानी ये तो मीरा हुई फिर बुद्ध बुद्ध के बाहर तो कंपन भी ना मिलेगा वो मौज दरिया नहीं शांत झील वो फूल के रंग जैसे बाहर दिखाई पड़ते हैं ऐसे नहीं वो ऐसे हैं जैसे बीच में फूल छिपा हो हजार हजार रंग भीतर दबा के बैठे स्वर हैं बहुत लेकिन ऐसे जैसे वीणा में सोए हो किसी ने छेड़े ना हो तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा है तुम बुद्ध के बाहर होश पाओगे मीरा के बाहर तुम मस्ती पाओगे बुद्ध के बाहर तुम परम होश पाओगे वहां जरा भी कंपन होगा और जैसे मीरा के बेहोशी में भीतर होश है ऐसा ही बुद्ध के बाहर के होश में भीतर बेहोशी होगी क्योंकि दोनों साथ होने ही चाहिए तभी परिपूर्णता होती है अगर सिर्फ बाहर का होशी हो और भीतर बेहोशी ना हो तो ये तो तुम साधारण त्यागी विरक्त में पालोगे इसके लिए बुद्ध तक जाने की जरूरत नहीं यही तो बुद्धों में और बुद्धों का अनुसरण करने वालों में फर्क है बुद्ध में और पाखंडी में यही फर्क है मीरा और पागल में जैसे फर्क है बुद्ध और पाखंडी में वैसे फर्क है पाखंडी को देख के अगर ऊपर ऊपर से आ गए तो धोखा हो जाएगा बगुले को देखा है खड़ा कैसा बुद्ध जैसा खड़ा रहता इसलिए तो बगुला भगत शब्द हो गया तो कैसा भगत मालूम पड़ता है एक टांग पर खड़ा रहता है कौन योगी इतनी देर इस तरह खड़ा रहता है लेकिन नजर मछली पे टिकी रहती है तो तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे काफी है उनकी संख्या क्योंकि सरल है बगलौ बन जाना बहुत आसान है लेकिन उनकी नजर मछली पे लगी रहेगी योगी बैठा हो भला आंख बंद किए हो सकता नजर तुम्हारी जेब पे लगी बाहर से तो कोई भी साध ले सकता है आसन प्राणायाम नियम मर्यादा सवाल है भीतर का ये निष्कंपता बाहर की तो ही नहीं अन्यथा सर्कस की है ये निष्कंपता अगर बाहर ही बाहर है और भीतर कंपन चल रहा है और भीतर आपाधापी मची है और भीतर चिंतन और विचार चल रहा है और वासनाएं दौड़ रही हैं और भीतर कोई परमात्मा को पा लेने की मस्ती नहीं बज रही और भीतर कोई गीत की गुनगुन नहीं भीतर कोई नाच नहीं चल रहा है ऐसा समझो बुद्ध और मीरा बिल्कुल एक जैसे हैं फर्क इतना ही है कि जो मीरा के बाहर है वो बुद्ध के भीतर है जो मीरा के भीतर है वो बुद्ध के बाहर है एक सिक्का सीधा रखा है एक सिक्का उल्टा रखा है सिक्के दोनों एक है जो भीतर जाएगा वही पहचान पाएगा और इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे दोनों रास्ते स्वीकार हैं तुम अगर बुद्ध के अनुयायियों से मीरा की बात कहोगे वो कहोगे कहेंगे कहा कि अज्ञानी स्त्री की बात उठाते जैनों से जाके कहो महावीर के अनुयायियों से कहो मीरा की बात वो कहेंगे कि आसक्ति राग कृष्ण का भी हुआ तो क्या मोह कहीं बुद्ध पुरुष नाचते ये तो सांसारिकों की बात है और कहीं बुद्ध पुरुष ऐसा रोते याद करते ऐसा इंतजार करते हैं कहीं बुद्ध पुरुष ऐसा कहते हैं कि से सजा के रखिए तुम कब आओगे ना जैन कहेंगे ये तो अज्ञानी है मीरा जैन तो कृष्ण को भी ज्ञानी नहीं मान सकते वो बांसुरी बाधा डालती ज्ञानी के ओंठों पर बांसुरी जिसती नहीं करके देख लो कोशिश किसी जैन मंदिर में जाके महावीर के मुंह पर बांसुरी रखाओ वो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तुम्हारी कि तुमने हमारे भगवान बिगाड़ दिए ये दुष्कर्म होगा वहां ये दुर्घटना मानी जाएगी यहां तुम बांसुरी जैन मंदिर में लेके आए कैसे और महावीर के ओंठ पर रखने की हिम्मत कैसे की अनुयायियों के साथ बड़ा खतरा है वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे घोड़ों की आंखों पर पट्टियां बंधी होती हैं बस एक तरफ दिखाई पड़ता है तांगे में जुते घोड़े देखे बस वैसे ही अन्यायी होते बस एक तरफ दिखाई पड़ता है जीवन का विस्तार खो जाता है संप्रदाय का यही अर्थ है धर्म तो बहुआयामी बहु संप्रदाय एक आयामी वन डायमेंशनल है बस उन्होंने बुद्ध को देखा समझा कि बात खत्म हो गई बुद्ध बहुत खूब है लेकिन बुद्ध होने के और भी बहुत ढंग है जिंदगी बड़ी अनंत आयामी है परमात्मा किसी पर चुक नहीं जाता हजार हजार रंगों में हजार हजार फूलों में हजार हजार ढंगों में अस्तित्व खिलता है और नाचता है मगर दो बड़े बुनियादी ढंग है एक ध्यान का और एक प्रेम का मीरा प्रेम से पहुंची जो प्रेम से पहुंचेगा उसकी मस्ती बाहर नाचती हुई होगी और भीतर ध्यान होगा भीतर मौन होगा सन्नाटा होगा मीरा को भीतर काटोगे तो तुम बुद्ध को पाओगे वहां और मैं तुमसे कहता हूं अगर बुद्ध की भी तुम खोजबीन करो और भीतर उतर जाओ तो तुम वहां मीरा को नाचता हुआ पाओगे इसके अतिरिक्त हो नहीं सकता क्योंकि जब तक ध्यान मस्ती ना बने और जब तक मस्ती ध्यान ना बने तब तक अधूरा रह जाता है सब इसलिए कभी ये मत सोचना कि जिस ढंग से तुमने पाया वही एक ढंग है और कभी दूसरे के ढंग को नकार से मत देखना और कभी दूसरे के ढंग को निंदा से मत देखना क्योंकि वो अहंकार की चालबाजियां हैं सदा ध्यान रखना हजार हजार ढंग से पाया जा सकता है बहुत हैं रास्ते उसके बहुत हैं द्वार उसके मंदिर के तुम जिस द्वार से आए भला और भी द्वार हैं और दो प्रमुख द्वार हैं होने ही चाहिए क्योंकि स्त्री और पुरुष दो व्यक्तित्व के मूल ढंग हैं स्त्री यानी प्रेम पुरुष यानी ध्यान पुरुष अकेला होकर उसे पाता है स्त्री उसके साथ होकर उसे पाती पुरुष सब भांति अपने को शून्य करके उसे पाता है स्त्री सब भांति अपने को उससे भर के पाती है मगर जब मैं स्त्री और पुरुष कह रहा हूं तो मेरा मतलब शारीरिक नहीं है बहुत पुरुष हैं जिनके पास प्रेम का हृदय है वो प्रेम से ही पाएंगे बहुत स्त्रियां हैं जिनके पास ध्यान की क्षमता है वो ध्यान से पाएंगी मगर ये बात तुम सदा ही ध्यान रखना है कि जो तुम बाहर पाओगे उससे विपरीत तुम भीतर पाओगे क्योंकि विपरीत से जुड़ के ही सत्य निर्मित होता है सत्य विरोधाभासी है सत्य पैराडॉक्स है आज इतना है